तो कहा कि तुमने जब साधना इतनी की तभी तो कृपा मिली ना बोले नहीं नहीं अच्युत भगवान का नाम लिया वहां पर अच्युत मैं तो भूल गया मैंने छोड़ दिया आपको मैं आपके हाथ का यंत्र हूं इस बात को मैंने अपनी कल्पना से निकाल दिया परंतु आप अच्युत हैं आप अपने स्वभाव से कभी चुप नहीं होते गिरते नहीं तो ये आपकी आपके स्वभाव से आप कृपा मुझे प्राप्त हुई मैंने कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ साधन किया हो ऐसी बात नहीं अपने स्वभाव से ही आपने अपनी कृपा का प्रकाश कर दिया मेरे सामने भगवान इसलिए स्थितोष में में जो भटक रहा था वो अपने स्थान पर स्थित हो गया तो गत संदेह मेरे सारे संदेहों का नाश हो गया तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि महाराज आप अच्युत हैं अच्युत हैं मैं मैंने अपराध किया और मैंने अपने को महामायावी माना मैंने अपने बल का इतना मद धारण कर लिया कि मैं आपके पार्षदों को और आपको अपनी माया से मोहित करने चला इसका अर्थ क्या हुआ मैं दासत्व से च्युत हो गया आपके चरणों में मैंने अरे जो स्वामी के चरणों का अपराध करे वो दास कहाँ रहा दास तो वो भी नहीं है कि जिसका सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई निज स्वार्थ रहता हो वो भी दास नहीं लेकिन जो स्वामी के विपरीत आचरण करे वो तो दासत्व से सर्वथा च्युत है ही तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने तो आपके विपरीत आचरण किया तो मैं तो दासत्व से च्युत हो गया पर महाराज आप कभी च्युत थोड़ी होने वाले हैं आपका स्वभाव है क्षमा करना आप दास के अपराधों की ओर नहीं देखते आप जिसको अपना दास मान लेते हैं वो चाहे दासत्व से च्युत हो जाए पर आप अपने स्वामित्व से च्युत नहीं होते स्वामी कौन जो अपना काम करवा ले और कुछ देखकर टरका दे वही स्वामी बोले ना वो स्वामी नहीं दास के सेवक के सारे योग क्षेम का भार जो स्वयं वहन करे आनंद पूर्वक बिना उसके कहे वो स्वामी वो स्वामी तो प्रभु मैं चुप हो गया और एक बात है संसार में कौन ऐसा प्राणी है कौन ऐसी वस्तु है कौन ऐसी परिस्थिति है जो चित्त नहीं होती एक बार जिस स्थान पर कोई है उससे वो चित्त होगा ही ये संसार का स्वभाव है किंतु आप कभी चित्त नहीं होते अपनी महिमा से अपने गुण से तुम्हारा अच्युत हैं आप क्षमा आपका स्वाभाविक गुण है तो आप क्षमा करिए मेरे सारे अपराधों को क्षमा करिए फिर मन में सोचा कि अपराध की क्षमा मांगना भी तो एक अपराध ही है जो क्षमा मूर्ति है उनके सामने क्षमा की बात कहना ये दिखलाना मानो ये क्षमा नहीं करेंगे क्षमा की बात कहे बिना क्षमा शायद न करें तो ब्रह्मा जी को संकोच हुआ वो बोले महाराज क्या करे तुच्छ जो होता है वो अपनी तुच्छता को लिए तो चलता है ना तो जिसके हृदय में महान भावों का उदय नहीं होता उसकी वाणी में महान भाव कहां से आएगा अरे अंदर जो होगा वही में निकलेगा बाहर तो आप महान से महान हैं और मैं तुच्छ से तुच्छ हूं इसलिए मैं जो मैंने जो अपराध किया और मैं आपके क्षमाशील स्वभाव का तिरस्कार करके क्षमा मांग रहा हूं ये भी मेरी तुच्छता का ही उदाहरण है तो इसकी ओर आप न देखें मेरी तुच्छता महाराज स्वाभाविक है मैं उत्पन्न हुआ रजोगुण से मेरा काम रजोगुण प्रवृत्ति रज का कार्य होता है सृष्टि करता हूं ना मैं तो ये रजोगुण का कार्य है ब्रह्मा जी में रजोगुण लीला मानी गई है तो रजोगुण में चांचल्य होता है लोभ पूर्तिरारंभ कर्म नाम श्रम स्पर्धा रजस्वी प्राणी गायनते तो रजोगुण में चांसज होता ही है इसीलिए मैंने इतनी खटपट की मैं शांत समाहित होकर चुपचाप की लीला को देखता रहता तो ऐसा क्यों ये ऐसी ये दुर्घटना होती पर मेरे लिए तो सुघटनाएं हुई लेकिन महाराज क्या है कि जो प्राकृतिक रजोगुण है कि ये भगवान को जो कहते हैं ना शुद्ध सत्व शुद्ध सत्व इसी से वो प्राकृतिक साबित नहीं होता कि शुद्ध है उसमें रजतम का मिश्रण नहीं है ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं ये कभी भी शुद्ध नहीं रहते जहाँ सत्य बढ़ा हुआ है वहां भी रजतम है किसी रूप में न्यून हो करके है पर है और जहाँ तम है वहाँ भी किसी अंश में सत्व है तो मैं रजोगुणी ब्रह्मा कहते हैं तो रजोगुणी जिसमें प्राकृत रजोगुण वर्तमान वो तमोगुण से रहित कैसे होगा और तमोगुण का कार्य है अज्ञता मूर्खता तो महाराज ये तो मेरे स्वरूप की बात हुई है मेरा अपराध भी क्या है रजोगुणी में हूँ और रज के साथ तम रहता ही है तम अंधेरा करता है ज्ञान को ढक लेता है ज्ञान के प्रकाश को चरूज कर देता है और ये मेरी अज्ञता और अज्ञता ही अज्ञता है ये ये महाराज प्रमाणित हो गया इसीलिए तो मैं अपने को ब्रह्मांड का प्रभु मानने लगा और अनंत ब्रह्मांड जिनके रोम रोम में वर्तमान है उनको मैं माया से मोहित करने चला अपने को अलग बहुत बड़ा बल, बलशाली मानकर तुम्हारा ये रजोगुण का चांचल्य और तमोगुण का अज्ञान इन दोनों से लिप्त हो, हो गया मैं इसीलिए मैं आठ आंखों वाला भी अंधा हो गया तनु ये रजोगुण की चंचलता ने और तनुगुण के अज्ञान ने मुझको अंधा बना दिया इसीलिए आपको सामने देखते हुए भी आंखों के सामने प्रकट आपकी माधुर्य लीला देखते हुए भी और मैं आपके महात्म सिंधु का एक कण भी स्पर्श नहीं कर पाया ये मेरे समान कौन अज्ञ मेरी अज्ञता महाराज प्रमाणित हो चुकी लेकिन प्रभु क्या कुपुत्र माँ का पुत्र नहीं होता है, है? कुपुत्र यदि है कोई तो माता पिता के लिए कुपुत्र चाहे है पर है तो पुत्र ही ना है <laughs> तो मेरे अपराध कितने ही हैं मैं हूँ आपका दास मैं हूँ आपका इसलिए क्षमा करनी ही पड़ेगी आपको और वो विद्यापति ने कहा एक जगह गणित दोष गुण लेस न पाओगी जब तुम कर विचार तू जगन्नाथ जगत कहा ऐसी जग बाहिर मुंछार भगवान आप कितने महान हैं और मैं कितना क्षुद्र हूँ मेरे में अगर आप गुण देखने जाएंगे तो कहीं गुण है ही नहीं पर आप जगन्नाथ हैं और जगन्नाथ हैं तो जगत के नाथ हैं तो क्या मैं क्षुद्र जगत से बाहर हूँ हाँ। मैं तो जगत नहीं हूँ ना और आप जगन्नाथ हैं इसलिए मेरे नाथ तो आप हैं ही तो इस नाथत्व से आप कैसे अलग होंगे भगवान ये जो कुछ भी प्रपंच प्रपंच जो कुछ है इसके सबके आप नाथ हैं आप स्वामी हैं आप नियंता स्वयं भगवान हैं यद्यपि मेरे साथ आपकी तुलना नहीं आपके अंशांश और प्रकृति के अंतर यानी सारे प्रपंचों के अधिपति महाविष्णु हैं उनके साथ भी आपकी तुलना नहीं होती तो मैं तो क्या हूँ ये प्रकृति महतत्व अहंकार तत्व आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये आठ आवरणों से घिरा हुआ जो ब्रह्मांड रूपी घट है उसमें अपने परिमाण से इस साढ़े तीन हाथ वाला मैं एक शुद्ध दिए हूँ तो और आप ये तो जैसे किसी खिड़की का खिड़की की का कोई जरोखा हो उसमें से और जैसे ये धूल कर सूर्य के ये परमाणु आते हों किरणों के जैसे धूल से उड़ते हैं इस प्रकार से अनंत कोटि ब्रह्मांड निरंतर धूल कण की भांति जिसमें जाते और आते रहते हैं वो कहते हैं कि ये भगवान के जो श्वास है ना जब श्वास बाहर निकलता है तो जगत का प्रकाश हो जाता है और जब श्वास अंदर जाता है तो सारा ब्रह्मांड अंदर जा पहुंचता है पुरुष नाशा के जो ये बाहर आए साहब ये चैतन्य हम्म, चर्चा में तुम्हें है पुरुष नाशा के जो ये बाहर आए श्वास निश्वास सहित यह ब्रह्मांड प्रकाश पुनरपि श्वास जबे प्रवेश अंतरे श्वास ब्रह्मांड पैसे पुरुष शरीर गवाक्षर रंधरे जिन ऐसे जिन कसरे में चले पुरुषेर लोम गुपे ब्रह्मांडिर जाले कहते हैं कि ये आप जब श्वास लेते हैं तो श्वास के बाहर निकलने के साथ अनंत ब्रह्मांड प्रकाशित हो जाते हैं और जब आप श्वास को अंदर ले जाते हैं जब श्वास भीतर प्रवेश करता है तो श्वास के साथ अनंत ब्रह्मांड आपके अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं जैसे खिड़की के छेद से उससे बारी से त्रिसरेणु चलते हैं इसी प्रकार आपकी प्रत्येक रोम विवर से अनंत ब्रह्मांडों का दिखना और न दिखना होता रहता है तो महाराज मैं फिर क्या श्रवण करूं क्या क्षमा मांगू आपसे आप सर्व कारण कारण हैं आप नारायण हैं मैं तो आपसे उत्पन्न नहीं हुआ तो बिल्कुल जब नारायण से उत्पन्न हुए हो तो नारायण को मनाओ ब्रह्मा जी को मन में ये बहम हो गया कहीं ये न कह दें कि तुम नारायण से उत्पन्न हुए हो तो भाई नारायण को मनाओ बोले नहीं महाराज तो नारायण आप ही हैं नारायण स्तम नहीं सर्वदेहिना नारायण स्तम सर्वदेहिना आत्मा सधीशा अखिल लोक साक्षी नारायणंगम नरभूजलायना तच्चापि सत्यम न तब माया ये श्रुतियां कहती हैं कि जब ये विश्व तीनों लोग प्रलयकालीन जल में लीन थे उस समय उस जल में स्थित जो भगवान नारायण थे उनके नाभ से एक कमल निकला उस और उस कमल से ब्रह्मा पैदा हुए तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये जो कथिन श्रुतियों का ये महाराज असत्य नहीं है इस प्रकार मैं नारायण का पुत्र आपका पुत्र और वो नारायण जो है वो दूसरे कोई नहीं नारायण स्वम नहीं सर्वदेश नाम आत्मधिशाखिल लोक साक्षी नारायण नरभूजलायना सत्यम न तवयो माया वो नारायण आप ही हैं दूसरे कोई नहीं सारे जीवों के आत्मा आप हैं इसलिए आप नारायण नार मन जीव एन आश्रय समस्त जीवों के आश्रय इसलिए आप नारायण आप समस्त जगत के और जीवों के अधीश्वर नार जीव एन प्रवर्तक इसलिए आप नारायण आप समस्त लोगों के साक्षी नार जीव और अयन उनका स्थान निवास स्थान आप सबके कारण इसलिए आप नारायण तो और जो वैसे जो नारायण है वो भी आपके अंश ही है सब तो ये सब आपकी लीला का विलास है भगवान यदि आपका विराट स्वरूप वो जल नहीं था तो मैंने जब मैं उसको पाया क्यों नहीं सौ बरस तक मैं उसे ढूंढता रहा उस कमल नाल के मार्ग से गया मैं भीतर जहां से कमल नाल पैदा हुई उसके मैं गया और सौ वर्ष तक देवताओं की आयु से मैं ढूंढता रहा पर मुझे आप दिखाई नहीं दिए फिर जब मैं मैंने मंत्र जाप किया तपस्या की आपके आज्ञा अनुसार तब मुझे हृदय में आपके दर्शन हुए और फिर आप छिप गए तो वो जल भी आपके अंदर मैं भी आपके अंदर तो प्रभु ये सब आपकी लीला है आप माया के विनाश करने वाले हैं सर्व माया के अधिपति हैं अरे और की बात तो छोड़िए अभी अभी उन्होंने आप, आपने अपनी माता क्या दिखाया था अत्र ये माया धमनावतारे है प्रपंच से बहिस्फुट कृष्ण से चांत जठरे जननीय माया तमेव प्रकटीकृतम थे माया माने ऐश्वर्य कहते अभी अभी आपने इसी अवतार में इस बाहर दिखने वाले अनंत ब्रह्मांड को और अपने अंदर दिखा दिया अपने पेट में दिखा दिया यशोदा मैया देख करके चकित हो गई उसने सारा ब्रह्मांड दिखा और आप भी दिखे आए उसी में तो महाराज ये क्या आप के ऐश्वर्य का विकास होने की सिवा और चीज थी ये सारी की सारी आप ये सारा आपका लीला ऐश्वर्य है और वो बात भी जाने दीजिए उस दिन की बाद भी अभी क्या हुआ अद्वैत दृश्य किम मन से मायात्मा आदर्शित ये कोशी प्रथम चतुर्वृष समस्ता अपी पावन कोशी चतुर्भुजादखिल साकम मयो उपासिता तावम के जगन प्रभु सदमिदम तदमितम ब्रह्मा द्वयम थे माता वाली बात भी जाने दीजिए अभी हाल की बात आज ही की बात महाराज दो दिन नहीं क्या मेरे सामने आपने अपना ऐश्वर्य नहीं दिखलाया प्रत्यक्ष ये देखा गया आप अकेले रहे और फिर सारे ग्वाल बाल बछड़े छाग छीके छड़ी जूते सिंगा बेणू कपड़े ये सब के सब आप बन गए और उसके बाद मैंने देखा कि सब चतुर्भुज नारायण हो गए और मैं भी और सारे तत्व आपकी सेवा में विनियुक्त थे उस समय अलग अलग उतने ही ब्रह्मांडों का रूप भी धारण कर लिया आपने और अब आप वो ब्रह्माद्वयम शिष्य थे वो अद्वितीय ब्रह्म लिए रह गए तो महाराज ये सारा का सारा आपके ऐश्वर्य का विकास है